ने बाटा कहीं के भूकंप धरकाम पर किंगड़ी ठीक है केवडवा कहीं के भूकंप प्रभु माख्या देवासी ने छुटकी दुनी डोडी रिस्क बुढ़ा कुड़ा ने छकड़ कोड़ी का दाता ने बनिया गरी गया का मार मोटा बत्तीसा पड़े तन तो की जे काल का न कबरो सभी न कहीं की जे आंगले आंगले કરી મેં કચરે કો રીકી છે મોટી મોટી સુરમોદેર કરી દીધું જોત ગણો કે જે જવાન પળું મેં બાળપણે કી કરી કે હીરો લેવું મેં રાતીર પૂરી શાંત રહો શાંડિયો કે કાઈ જા બેટા દેવાસી બને મદર કી દુકાન કાઈ કપડા મલાવા લાજે દેવાસી મુંગઈ મોલ બોલ રે Dang Dang माने मदनी दुकान के कपड़ा मुलावे देवासी मुंगई मोलेरा जा बेटा देवासी लुणे धरती खिजे धर जोरे थला शिरावे गलन सतर पीछे मेकड़ी जा बेटो खाता खरा दरी खिजे दुकान पत्तरा पावड़ी घोटागड़ा वसंदन खाट का अगम पचम सिंह आवे तो क्या की किसी जमात के भद्र सिंह बावे रात वाली नात को यो सोने रूपा में मंडावे दिया नारेल जोड़ ਪਰਾਇਆ ਤਨੇ ਗਰਵਾ ਕੇ ਪਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਿਦੇ ਮੰਡਲੀੜਾ ਜੋਗੀ ਗਿਰਾ ਚੱਲ ਪਰਮਰ ਸਿੰਘਿਆ ਹੱਥ ਖਿੱਚਲ ਕਿਓ ਕਰਾਗ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆਲੀ ਨਾ ਤੇਰੋ ਯਾ ਕਾਇਨ ਲੜਿਓ ਪਾ ਦੇਵਰ ਪਾਲ ਪੌਰਾ ਖਾਨ ਕੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਭੂਕੋ ਰਾਖਿਓ ਨੀਲੜੇ ਆਕਰ ਜੀ ਪਾਲ ਪੌਰਾ ਖਾਨ ਕੀ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਦੇ ਵਾਲਾ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਭੁਕਾਈ ਰਾਖਿਆ सौरी गुरु जी मन तो दारा खनरी धार कबकी बड़ा देने लंका जी चाटी घनी किजे चाकरी क्या लंका जी को नाम लेते ही बाबू जी बेरगी हुई गियो क्या बाबा जी बाबा जी थारी काई मर्जी के विराजी सन्या जाई के लंबाई रे जाई तिनका बदी देवासी थारी बदी सोवा बदी तो फाल पावूरी बदी क्या अटक भरी तुमड़ी में गर्मा का हाथ में काई है आई जा गुरु जी जितले अंगट लंकारी राती रे पूरी शांड के दई कर छोड़ू बाबे रे बाली ना तेरी गुरु जी क्या किया रे खुआता नहीं राजी दिया छलक प्रेमष्ट की आज के चल की ओ करा के ओट दिन दिया ली ना तेरो यद दे दियो माथे रो टोप एक दे दियो हाथ रो खपरे के बाप जी में कई गुने के बिराजी तू जावे लका प्रदेश उठे की उधारी माता बेटी या उन होकर ऋषि होकर जैसे तीर भोजन मिल जावे यक देदनी के बाजी में कई गुण के विराज शोकोर चाल तो श्वास कोर चाल जे रति थकेलो आवे लोको ये नहीं या एक देदनी बाबा जी ने या एक देदनी गुरु जी या सादर है के भाव जी में कई गुण है अग्नि में गले को नहीं जल में बढ़े को नहीं या ग्रमा का हाथ की दे देने टके बरी तुमड़ी के बाप जी में कई गुण है के विराज तू जावा लंका प्रदेश बेरी का दूध मत पीजे राती बुरी सांड रहो ਬਚਨਰੋ ਤੁਧ ਪੇ ਲੋਵਾ ਲਵਮੈ ਬਵ ਲੋਬਤ ਬਿਦ ਤਾਦਨਾ ਤੁਲਨ ਕਜ ਕੋ ਨੂਣੋ ਨਾਮੇ ਕਰੋੜ ਬਾਤ ਬਾਦ ਜਾਵ ਲੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਦਿਨੋ ਬੇ ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਬਰ ਚਿਤ ਲੋ ਮੈਂ ਜਾਉ ਮਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਬਾਰ ਕਾ ਮਾਤਾ ਪਤਣ ਲੈ ਤੋ ਘੋਟਾ ਤੁਮਾ ਹੱਥ ਹਰੇ ਦੁਨਾ ਮਾਤਾ ਤੇ ਨਾ ਨਾਕ ਦੁਲਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਪਤਣ ਤੋ ਲੰਕਾ ਜੀ ਕੇ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਨਰ ਨਹੀਂ ਪਤਣਿਆ बल बल जाजे देवासी थारी माता गए घर की जे बार के दोगड़ी बिचारो माता नहीं ना के दा Yeah. <laughs> 예, 예. ਸਕਤ ਖਵੇ ਮਾਤਾ ਕਜ ਨਰਹੀ ਰਾਵਣ ਦਿਜੇ ਜ਼ਲਮ ਕੀ ਜਨੀ ਸੁਤੇ ਜੋਗੀ ਨਾ ਖਾਈ ਗਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਦਾਈ ਕਰੂ ਜੀ ਦੇਈ ਗਣਾਈ ਓਲਵਾ ਸਿਰਕ ਜੋਗੇ ਸਰ ਥਾਰਾ ਮਾਰ ਗਈ ਲਾ ਵੇਸ਼ਾਂ ਹਰਮਲ ਹਰਮਲਰੀ ਰਾਵਲ ਬਾਖੜੀ ਦੂਜੜੀ ਮਾਰੇ ਹਰਮਲ ਰੋ ਭੁੰਡੋ ਗੁਣੋ ਸੁਭਾਵਾ ਵਾਲੋ ਦੇ ਵਰਸੀ ਰਲਕਾਈ ਬਰਸਲ ਤੋਤੀ ਡਾਂਗਸ਼ੂ શું યો દેવાસી मन में विचार करे करती माता हीरा फनारो छाणे सजा पेटा को फर्जनिया थुई की जे भूल गई दीजे जलम के जने चिरते जोगी ने आखा गालक सिंह सिदाई गुरु जी दे घणाई ओळवा या उठ जा देवासन पाया हीरा अगद मोत्या था आका गालन में लम नीची की जे उतरी शनि शनि लागे जोग्यारी खिजे उणियार दायक प्रउणियारो लगत बेरे काडे गुंगटो कहन लगे बौड़ी रमतो जोगिड़ो देवरे थारे ही जेठ के काई मन लाग्यो जोगिरे लारे ही जाने छो या नी लागे सासू जी साई रमतो जोगिड़ो देवरे मारे ही कीजे जेठ नहीं मन लाग्यो जोगिरे लारे ही जाने छो से नी से नी लागे जोगी की उनी आन दाता की बत्तीसी पिंडी कोपड़ा को दिखे थारो तो मो भी फूते रहो या गिर गयो देवाशी लामो निसरसोई नाके गिरतने ओळखियो माझी साथ संदन ही चौक में गदब गिरा देवासी धरती धरा में खिजे निया छांटो लगायो बिन बिरसो तरह थारी जाते रहे यो घर गयो देवासी छातू में नरो ब्याह कुण दे जना न छावल खिजे बात कुण दे कुंवारा शरणई शेवरा संदो डेमो ने बला जना न खिजे बात के पाल पाऊ दे कुंवारा शरणई शेवरा कुण से मैंने सूर हर मल थारी कीजे बात के कुण से मैंने देखूं वो भी नहीं आवे तो ਮਾਤਾ ਮਾਰੀ ਭਰੀਏ ਬਦੜੇ ਜੇ ਹਰਮਲਰੀ ਕਿਜੇ ਬਾਤ ਕੇ ਛਟੇ ਬਈ ਨਾ ਦੇਖ ਜੇ ਮੋਬੀ ਨੇ ਪਾਛੋਈ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਖਾਈ ਜੋਲੀ ਕਮੰਡਲੀ ਆਲੇ ਵੇ ਬਗਲਾਏ ਗਾਲ ਖਾਈ ਮਾਰ ਖਰਚੂਟੇ ਲੰਕਾ ਜੀ ਗਈ ਪਰਦੇਸ਼ ਰ ઢાકણિયા ઘાટા खमलाओ उबड़ती जलती आग में ये डाकने हमने खाई खाओ जे पर जो शेर में जाओ बड़ी बड़ी दूध का बणिया दे दे कर खाओ हमारा तो सारे दुनिया तपेड़ा हाट क्या है के गेरू जी बड़ी बड़ी दूध का बणिया खाता खाता जड़ा खड़ी होगी खोली होगी सुक्योड़ा हाट क्या जल जल साबन लगना मांगना जड़ा खड़ी हुई जावली देव मोदी की ओर भाई डाकने का गल का करे भूता का फुल्या करे को डाकने का काल जा धैन ने सदाए पिड़ा के सुनो रे दरुपुरु वाला की जटा पकड़ लेने क्या गुरुजी में फाटे तो संगार खुटो खुल लटुरिया बत तो माकाले मुत डूंगरी जावण दीजे पाचो आ तो माकाले मुत डूंगरी राजे पतला पतला फलका पवा कुकड़ लांगा फटकारा लगावा कूप तन मजवानी जीमावा देव आशी में विचार करे दस बीस कोस को आटो खला करोड़ बाती मार्ग पाउंडो को नहीं देवा ये डाकण्या मन में विचार करे दो चार पाउंडा की छटी दे देवे गुठार लंगोट सार अपना लारे पड़े तो आप मत डूंगरी जाए सडा काई जोली में एकले लेनी देवासी बगला का हाल काई न काज के मार्गा खर्च टैर काई न कारे वाल होने ಖರ್ಚುಟಿವಲ್ಲ ಕೈಕಿದೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ದೋ ವರ್ಷ ರಾಗಾಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಜೇಮ ಇಪ್ಪತ್ತ ಪದನಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿರಾಡ ಸುಡ ಪಗಾರ ಈ ಪಾಗಿಡ ಪಾಗಿಡ जग जग समुद्री और आला जुनाई जाग बे तेज मना को जो गया ना पानी लागे खाई रावण रावण रात को पक देवा मर जावा समना मैं डूब खा जावे रागा रमा का मंगरी की जे माचड़ा माचड़ा पाचा गिरे तो छुटे धणी ਕਦੇ ਤੋਂ ਬਾਬੋ ਜੀ ਤੁਮੜੀ ਨਾ ਕਸਲ ਕਦੇ ਘੋਟੇ ਨਾ ਕਸਲ ਪਣਾ ਸਮਤ ਕੋ ਥਾਗ ਆਵੇ ਕੋ ਯਾ ਯੇ ਕੇ ਸਨਾ ਸਨਾ ਲੈ ਵੇ ਪਾਲ ਪਾਉ ਕਾ ਨਾਮ ਘਟ ਪਿਤਰ ਸਿਵਰੇ ਬਾਬੇ ਰ ਵਾਲੀ ਨਾਤ ਨਾ ਨਾਤ ਨਾ ਕੇ ਦੇਵਾਸ਼ੀ ਵਾਸੀ ਰਮ ਲੈ ਨਨ ਤੁੰਨ ਨਾ ਧੂਪ ਕੇ ਧੂਪਾਂ ਅੰਤ ਪਾਵੇ ਕਿਸਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਲ ਮੇ ਕਾਲ ਮੇ बेहतर समंदरिया बारा दे गया लांग परार समंदर आ गया समनारी पहली की जे तीर के दुनिया दुकाली रसने री जुनी जोकम है जोकम यो दुनिया ते वे संध्या को पोर काई तरा तरा गोरीड़ा जो क्या ना आवेर काई दा आधार करता रहणे कियो क्या दो दे काई बार के दूं बार के दूं भूलडी तारी के को नी लुली लाता हमारे को नी वो ढाई शेर चना साबे को नी दी पहले the જે નામ હાજરી છવરાઈ નામ નવ યો જે નામ કરા દેવે તો કરાઈ હા નવ નાતાદના તેઓ સ્નેહ ગોપુર ત્રા ત્રા ગોરીડા ઝોક્યાને પાછઈ બાવડ્યા બાવડા ઉડે ઝોક્યાને માયને ધુમાકા કીજે દકરોળ આજ રમ તોડો સાધુવાર ધુણી કીજે તાપઈ દો તાપ દો યા થોડે દેવાસી લીલરિયા નરેળ જોડ પ્રાત અને ગરમા કે પવાઈ લાગિયા લાગ્યા ਦੀਜੇ ਮਨਲੀ ਰਾਜੋਗੀ ਪੱਤਰ ਪਿਆ ਪਿਆਲੋ ਥਾਰੋਈ ਮਾਨ ਯਾ ਦੁੱਧ ਪਦਾਂ ਫੇਰੀ ਕਤਨੇ ਰਾਤੀ ਰੂਰੀ ਸ਼ਾਂਡ ਕੋ ਸ਼ਾਂਡ ਕੋ ਕੋ ਨਿਰੇ ਲੰਕਾ ਰਾ ਦੇ ਵਾ ਚੰਦੂ ਤੇ ਆ ਰੋ ਕੋੜ ਆਦ ਬਾਬੂ ਜੀ ਖਾਜਾ ਗਟਕਾ ਨਗਲੇ ਨਗਰੀ ਮੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਨਾਵੇ ਮਣ ਮਣ ਕਾ ਭਟਕਾ ਭਟਕਾ ਯਾ ਸੁਕਾਪਾ ਕਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਦੋ ਧੁਣੀ ਮਕਸੋਲ ਪਰਾ ਠੰਡੀ ਤੂੰਬੜੀ ਕੋ ਪਾਣੀ ਪੀਰ ਜੋਗੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕਰੇ ਕਰੇ हे गुरु जी तो मेरी बात तुम्हारी देखाओ दूध में पिया रो थन पीणो बिराजी एक बात तो पिला के वाह कई बात करवा हाथ की टके बरी तुमड़ी आ दूध भर दो तो करोड़ बात पिला ने करोड़ जतनी को नहीं पिया कहीं गिरो बाप जी थारी तुमड़ी रो गढ़ गणो किजे गुमान पावली खजली शान दूपरा यार कूड़ दिया तो तो के तुमड़ी को दस पीस तुमड़ी भर है के विराजी तटवीर तो तुमड़ी को कोने काम एक तुमड़ी पर देव दूध पिला ने करोड़ जतने को पिया पिया क्या कारकडार में अलदे ठकर पाबू के आण घड़ी पचास गुरु गोरखनाथ के आण घड़ी पचास गलब तुमड़ी आगे फोटो खरे समय में वो आए दे नितर तलू तुमड़ी तने मारू मुर्दरी देश में देश में क्या लेले गड़ूलिया पड़ जा बरक टोला के मां दुवे सन्ने ने बाबूजी घूमड़ी में नहीं तो उंबड़ी में कूड़ देवे सर कह दो जो कणी ले ले ले Devarjido é. Ele എന്നാതാ ಲೇಕಡುಲಿ ಅಪ್ಪಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಟೊಳಗೆ ಮಾಯಿದುವೆ ಸಣ್ಣ ನೆರ ಬಾಬಾಜಿಗೆ ತುಂಬಿಡಿ ಮೇ ಕೂಡ್ದೇದುವೆ ಸಣ್ಣ ನೆರ ಬಾಬಾಜಿಗೆ ತುಂಬಿಡಿ ಮೇ ಕೂಡ क्या बीकानेर को पको हमणक दूध कुड़ दियो बाबा जी की तुमड़ी के मायने दूध के जगुंडा फेफुंडा आगे पण गड़बो तुमड़ी ऊंची बोली बरे क्या गुरुजी थारी कला ने परी की जे समेट भूका हमरे सने का बालक की जे टोडिया टोडिया देवाशिकर दूधियानी किजे मनवान आंदल हो देवाशिकर हरे की किजे पार का पार का सुनो लंका का देवा जा क्या का तो बाबू क्या का बाबू जी के खांग में छुरी सने पर नजर बुरी बुरे दूजो गुरु जी आवे में ध्यान रखे चिपटा में ध्यान रखे वो काने ऊंट कंकेड़ा का देखे जो थाने हाल लिया हाल लिया के दी देखे, देखे। क्या गुरु को मन एड़ो करे रात्रि ने ले दड़ू पीड़ती ने ले जाऊं लीलड़ी ने ले रागड़ो ई जाऊं હે આન લાત ને કાંઠા આપડી કે બિરાજ ફાંકી સાતા છો કે છે મિનો આ દઈ આંક પડાકો પડ્યો લર કે મારી ની માનો તો રાવણ કે માશ કોતરી ને હાર બોદલો છે મિના આગલી બસુજે છે મિના પાતલી સુજે સુજે એક દોડતા દો દોડિયા તીન દોડિયા રાવણ કી માં કોતરી બોતરી શિકોતરી શિકોતરી કરતા ગયા या देखाणी गड़गड़ाहट बड़बड़ाहट करता बैठा ये आगे बरुरे धमगेटा शेर को वट को हां या आदि के हमला के मायने काची नींद में जगह सुंडे चढ़ जाती विराज सात कोट ता सिंह के उबी कोनी रे रे ये माता हमारी सुंडे पत चढ़े जे माकड़े जो क्या माया अब दूध पेरी को दूध नहीं पिए रातिर बुरी सांडे को सांडिया यस जुक्का पेरा विराजी कहता झूठी माता हाची बके हाची मानो झूठी झूठी माना रे घणी झूठी झूठी थारी पल्ले मान ले रा हचिया जीवे की होना ये दीजिए क्या घड़ी दोहे को ले सरदोर बल के आला को कवर भिया को बाण दो दशमन जी को मो भी घणो की जे डीक रो डीक रो क्या जनन न पड़ना या केलम कने आ दी उद कदन ठाकरे पाऊ जी थकाली हाल ने आ देड़ी करी क्या सने रे ले रे आयो देवासी हो जात रो थारो आल है माता ने खरे सुमन में बुआ दो 또 단살리 덕거래지 내 처음에 닌데 고 술리굴이 민고 야 देवाचन सने को नाम लेता छूट की दोनी दो रीछ कोई कात में टांगड़ी कोई कात में बद्दू कोई कात में तलवार मार देवर सदो मार लेवर सदा करता आया देवासी मन में विचार करियो डोत क्रिया की शाय डैमेज कर देने समद की शाय पाबूज कर देने छोटा की शाय कौन है करे लो करे लो देखने माथाली टाल दे गुदी में मेल दे गुदी वाले टाल दे तो कमर भांग दे ये दूध का धायड़ा देवासी कोडियम को खोतलो कर दे यो देवासी डरुमरु यो जते गरमा का हाथ की चादर निगाह की पांच सोनी तापो दफसा दफसा का हल परो समंद के किराड़ा आयु वो यो क्या के तो लंका का देवासी मार लियो साधो मार लियो साधो करार के उठे डट गया कियो बिराजी साटी बुद्ध नाटी मुंडे में को नी दांत पेट में को नी आंत रान हाल छोटा छोटा न्याव करवा लागे गी ये क्या तो देखा ये अग्नि में आलाई बड़े हुकाई बड़े ये अग्नि तो कोई की हिरी को ने हाथ के दागो लागे ने चादर का दागो लागे ने बाबू जी बट सिद्ध पूरो लंगोट की फटकार दे दी आपा ने पकान कर दे आपने हांडिया ने पकान की कर दे दे कने हाथ पग जोड़ पड़ा गुरु जी ने पत ले बाबा जी के दौड़ आडा फिर गया दोनों पकड़ लिया हाथ बाबा जी पर चारे मकाल है पास मंडी चुका ने सरबा ये सोनी सुनो रे बिराजे सुग्रा की बस्ती में जाता दो राम जी का नाम लेता नुगरा की बस्ती में आया तो लाठी छोटो लाठी छोटो मैं तो करोड़ बात हाला को ये ये एक बात हालांकि कवा कहीं बात के बिराजी एक तो कड़िया को आठ बंदे एक शिवनी माला बेगी इतरा थोकरो तालाने तो किरोड तो तनी कोणी आला कोणी आला हे मा गुरुजी क्या खाती वे तो खाट की गड़ार दे दिया सुनार वे तो सोने रुपए गड़ार दे दिया बिरा जी ये थोक तो माऊ को नहीं बिरा जी टंकाली तो क्या के मायने काई के तो मेंगना के बिरा जी माला तो मन की बिली और खाट का पारा के माला में हुए तो गुण हुए तो क्यों बेचे में घर मिनी आ रहा दो चार पोर गलम नाग देने दो चार पोर हाथ में दे देने बाबू जी राम जी का नाम किरण बन के का लेवे ऊंट को मिंगड़ू भैंस को सिंगड़ू राम गटा गट राम गटा गट राम गटा गट करवा लागा गलाया करे हे गुरु जी मैंने नुगराज कने शुक्रा कर जाओ कि बिरा जी आज बार तो को ने तड़के मंगल मुखी सिधाई राखे सुखी क्या पांच आंगले को पंजो इणक बांध की को मेल थे बुलो ने तंगा जड़ो बुलो ने चटो मने हालडा में ताड़ो पड़ जाए तो को मगरवान दोष मती जीजो சண்டை அம்பிலும் நிறையா அதுக்கடி கிஞ்சிரும் உங்க சட்டம் ஃபுடாச்சு தலையான சொத்த இக்கிது கேதுடா கேதுடா બેટો સણ્યા ભૂરે ભાકરી ઓટ કે ઝોકા આંક લાદ્યું પેલું મુલમલી રે તમે में या पानी पियो लंकारी सन्या खारे देना रोई कि जनी पानी पादू लगा दी रे कोई री की गूंजवे गूंजवा काहे तब जा लंकारे मायने में नहीं कि जे पांच खाई छटे में न करे घराना सोन साग पीर काहे आधार के तार मोतेंगी माला हुने कियो कदे देखणी कहीं भेजा देखणी Thank you. ಹೇಳ್ತಾರೆ There is the Lord. Teve. ને સૌને કીધી સ્વાગતી સ્વાગતે જત તો દેવાસી લગાયા ચટ ગણાય કીધી ચોમાસ કરી તો હવે ગ્રહણ પવન કીધી બતુડ્યો બતુડ્યો એક દો બાસારા કોકેલા માર્ગ રે કીધે માર કે તીજે ભાષામાં માતા ગાયો સ્વીકૃતિ પાવણો પાવણો ખોલ દીજે જલમ કી જને સદર દડીઓડા કીજે કિવાણ પ્રદેશ આંગીઓડા પુત્ર પાતા કીજે બાવડ્યા બાવડ્યા दिबलाई जो एक छाटक बिचा दे इंगलू ई की जे ढोलिया ढोलिया की देवास ने भाया रंग मेला में दिबलाई की जे जो ये छाटक बिचा हरमल राव का जी की जे गेंदुआ गेंदुआ बेटा पाल पाऊ गुगरे के जे बाज ओट के चंदा आशाओं ताज हरमल के मेला में दिवलो की जे किस के किस के के जाय और मलरे पतिरो मोबी की जे पूत के नित्र परदर सांगी उड़ा पुत्र पचाई बाबेड़ा बाबेड़ा या दिनोगियो काजो कन्यारो निर्मह की जे बहान अटा दिन की उगाले अलग जगायो अटा बुरे गुड़दी की कोट में कोट में सब नो डेमो लागे जोग्या ना इने मन में की जे पाम पाल पाऊ गज बैठा है की जे ओळख ओळख क्यों दीजे देवा चीर मला तारा मंदिर ले की की जे बात कुंसी धरती में सनेरो हेरोई हेरियो क्या 그리고 발파우 다티리 짜는 그제 꿈테 헤로 언니래요 라티리 부리 산드로 산디야 발파우 나 수키 두키 부지 코 두키 부지 니코 수키 부지 니 발파우 지네 헤레르 페레 키 부지 부지 야 तनो तोड़ दे वाले खोटी को के वाले रात ने के जे बड़ाई को मारे दिन ने फिरे लुगाई को मारे दे जमके धके को तोड़े रे बके बके और सब चुग जा चुगल करोड़ बात ने चुगे કે બાવજી કયું દેવાશીને માર્યા કબલે નાકો છેમિનાયા મકાળે બોદલી બાડમાં પડ્યો ચુનમુન કરે શેંગરાત નીન કોલ લેવણ જાવ તો કોઈ લંકાજી ગયો કોઈ મક્કાજી ગયો મક્કાજી રહ્યો ને લંકાજી રહ્યો છે હે